अष्टम मंत्र तक पद भाष्य हो गया था वाक्य भाष्य कितने हुआ कहाँ चले पचास भाष्य पूरा नहीं हुआ नहीं वेदिता वेदितुर वेदितुम शक्यो अग्निर्वेदग्धुम अग्ने है वेदिता वेदितुम नहीं शक्य ज्ञाता जाना नहीं जा सकता है वेदितु न शक्य वेदिता ज्ञाता को नहीं स्वयं अपने स्वरूप जानने का सामर्थ्य है स्वयं अपने को जानता नहीं वेदिता वेदितु नहीं सके वेदितु हो वेदितु जो ज्ञाता है उसके द्वारा स्वयं अपने स्वरूप नहीं जाना जा सकता है दग्धुम अग्ने यथा अग्ने दग्धुम न शक्य स्वात्मानम अग्नि दग्धम न सकनोति अग्नि जिस प्रकार अग्ने हे स्वरूपम जो स्वरूप को अपने आप को अग्नि दहन नहीं करती काष्ठ को दहन करती है रिव दग्धम अग्नि स्वरूपम इसे वेदितु वेदिता ज्ञातो न सक्य इस प्रकार अग्नि हे अग्नि दग्ध न सक्य अग्नि अग्नि के द्वारा अग्नि ना अग्नि ही दग्ध न सक्य अग्नि के द्वारा अग्नि का दाह नहीं होता है दग्ध न सक्य अग्नि दग्ध न सक्य अग्नि दाह होने के लिए संभव नहीं अग्नि के द्वारा इस पर वेदिता भी अपने द्वारा जाना जा सक नहीं सकता है तो अपने द्वारा नहीं जाना जाए तो अन्य के द्वारा जाना जाए न चान्यो वेदिता ब्रह्मणोस्ति ब्रह्म से भिन्न कोई ज्ञाता है ही नहीं यस्य वेद्यम अन्यत स्याद ब्रह्म यदि ब्रह्म से भिन्न वेदिता ज्ञाता होता तो ज्ञाता से भिन्न ब्रह्म जाना जाता ब्रह्म से भिन्न ज्ञाता हो तो ज्ञाता से भिन्न ब्रह्म होगा तो ब्रह्म ज्ञाता से अन्य जाना जाता नहीं ब्रह्मणोस्ति वेदिता यस्य वेद्यम ब्रह्म अन्यत स्यात् यस्य अन्य कोई ज्ञाता हो अन्य ज्ञाता का वेद्य ब्रह्म अन्य होता किंतु अन्य कोई ब्रह्म से भिन्न ज्ञाता है नहीं श्रुति कहती है नान्य दत्तोस्ति विज्ञात्री दृष्टि श्रुति मंत्री आदि दो प्रकार है नान्य दत्तोस्ति विज्ञात्री दृष्टि श्रुति नपुंसक करके पुल्लिंग में भी नान्य दत्तोस्ति नान्य दत्तोस्ति विज्ञाता दृष्टा श्रोता मंता दृष्टा श्रोता मता ज्ञाता ब्रह्म से भिन्न कोई है नहीं है श्रुति स्पष्ट कहते अन्यत ब्रह्मण ब्रह्म से भिन्न विज्ञाता ज्ञाता दृष्टा श्रोता मता कोई है नहीं इसलिए क्या सिद्ध होता अभी जो अनेक दृष्टा लगते हैं अनेक जीव है सब दृष्टा है सब ज्ञाता है ब्रह्म से भिन्न नहीं है अर्थात ब्रह्म ही सर्वत्र दृष्टा रूप से अंतकण अलग होने से अनेक अंतकरण विशिष्ट होकर के एक ब्रह्म ही एक ही आकाश जैसे अनेक घट में अंतर हैं से सब घट के अंदर एक आकाश है इसी प्रकार एक ही ब्रह्म सब के अंतकरण में युक्त होकर के दृष्टा नाम से कहा जाता है अंतकरण विशिष्ट चेतन दृष्टा है अंतकरण अनेक है दृष्टा तो स्वयं ब्रह्म ही है अंतकरण विशिष्ट होकर के अनेक लगते हैं किंतु इससे भिन्न कोई है ही नहीं है दृष्टित्व श्रोतृत्व मंत्रित्व आदि ब्रह्म में ही अध्यस्त है ब्रह्म से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मंता है ही नहीं है इसलिए ब्रह्म से भिन्न ज्ञाता नहीं तो कौन ब्रह्म को जानेगा फिर नान्य दत्तोस्ति विज्ञान ते अन्यो विज्ञाता प्रतिष्ठितते ब्रह्म से भिन्न ज्ञाता कोई है ही नहीं प्रतिषेध श्रुति करती है तस्मा सुष्टु वेदाहम ब्रह्मेति प्रतिपतिर्मितेव इसलिए अहम ब्रह्म सृष्टि वेद ब्रह्म को ठीक जान लिया जानता हूं ये जो ज्ञान है मिथ्या है भ्रांति है यथार्थ नहीं है ब्रह्म से भिन्न स्वयं नहीं तो स्वयं में ब्रह्म को ब्रह्म मेरे से भिन्न उसको मैं जान लिया जानता हूं ये तो ठीक नहीं इसलिए ये भ्रांत यथार्थ ज्ञान नहीं होने से तस्माद् युक्तमेव आह आचार्य यदि इत्यादि इसलिए आचार्य जी ने कहा यदि मन ने सुबह देती जो कहा वो ठीक कहा यदि मन से सुबह देती दहर में वापिनुन तंबेत तो अभी यहाँ तक तो यहाँ आचार्य बुद्धि विचालन करने के लिए पूछते हैं सुवेदाहम ये ज्ञान ठीक नहीं है इसके पर शंका हुई सुवेदाहम ज्ञान तेष्ट है ऐसे निश्चित ज्ञान होने से तो ज्ञान की निवृत्ति होती है तो कहा इसके लिए बुद्धि विचालन करने की क्या आवश्यकता है तो ये कहा ब्रह्म से भिन्न ज्ञाता नहीं है स्वयं ब्रह्म अपना स्वरूप है इसलिए स्वरूप स्वयं स्वयं ज्ञातुम न सक्य न सक्यम अपने स्वरूप अपने से ज्ञान जा नहीं जाता है जिस प्रकार अग्नि स्वयं अपने को दहन नहीं करती है भिन्न को दहन करती काष्ठ को ब्रह्म विद्या वेदिता ज्ञाता का स्वरूप ही है स्वरूप होने के कारण ज्ञाता अपने आप को नहीं जान सकता है तो फिर शंका है ब्रह्म से भिन्न कोई ज्ञाता हो तो ये भी नहीं ब्रह्म से भिन्न कोई ज्ञाता दृष्टा श्रोता मनता नहीं है श्रुति निषेध करती है इससे सृष्टि वेदा हम ब्रह्म ये ज्ञान ठीक नहीं यहाँ तक हुआ तब ये हुआ आचार्य का कथन यथार्थ है यदि मन्यसे सुवेदी यदि कर कदि यदि मानते हो सुवेदी यदि मन्यसे यदि से मानते हो इसे मानना बहुत सरल नहीं है यदि कदाचित मन्य से सुवेद इति यदि कभी मान लेते हो मैं जानता हूं करे सृष्टि वेद सृष्टि वेद हम ब्रह्म इति अच्छा जान ठीक जानता हूं ब्रह्म को इति कदाचित यथा श्रुतम दुर्विज्ञेमपि दोष सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते कश्चिनेति महा यदि इत्यादि यदि शब्द क्यों कहते तो यदि जानते हो यथासतम दुर्भिज्ञ में अपि जैसे श्रुति में कहा गया वो तो दुर्भिज्ञ विदित अविदिताभ्याम अन्यत दुर्भिज्ञ बड़े दुखेन विज्ञम विज्ञा तो सक्यम तो भी दुर्भिज्ञ होने पर भी कोई कोई जान सकता है क्षीण दोष क्षीणः दोषायस्य सब दोष जिसका क्षीण हो गए काम क्रोध आदि और संशय विपर्य दोष नष्ट हो गई राग द्वेष आदि दोष नष्ट हो गए तो सुमेधा सुष्टु मेधा इस सुमेधा अच्छी बुद्धि वाले कश्चित प्रतिपद्यते कोई जानता है किसी को ज्ञान नहीं होता ये बात नहीं कोई जानता है अनेक में से कोई जानता है सतम दुर्भिज्ञ होने पर भी दोष नष्ट होने पर ज्ञान होता है कश्चित कश्चित न और बहुत को ज्ञान नहीं होता है इसे साशंक माह आशंकया सहित साशंकम साशंकम यथा सात शंकायुक्त होकर आचार्य कहते यदि मन्य से सुवेदिति इष्टम दृष्टम च इष्ट दृष्टम दृष्टम च येषु अक्षिणी पुरुष दृश्यते एस आत्मेति होवा चेत अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इत्युक्ते प्राजापत्य पंडितो पसुरराड विरोचनः स्वभाव दोष वशाद अनुपपद्यमानमपि विपरीतम अर्थम शरीर में आत्मा इति प्रतिपन्न ये दिखा गई है चांदोग्य में विरोचन शरीर का आत्मा इसे समझ लिया प्रजापति के पास वास करके इंद्र विरोचन दोनों 32 वर्ष के बाद इन प्रजापति ने उपदेश किया यह एसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते जो इस चक्षु में पुरुष दिखता है ऐसा आत्मा ही तो हुआ यही आत्मा है और आत्मा कह करके एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म ये अमृत है अभय है और यही ब्रह्म है मरण धर्म नहीं जो आत्मा है आत्मा वही ब्रह्म है स्पष्ट है जो आत्मा वही ब्रह्म है जो चक्षु में दिखता है वही आत्मा है वही ब्रह्म है ऐसा कहने पर भी प्राजापत्य प्रजापतिरपत्य प्राजापत्य पंडितोपि असुरराट कम बुद्धिमान नहीं है असुराणाम राजा है असुरराट असुररा असुराणाम राट असुराणाम राट है राट राजो बनेगा राजा अर्थ के राजरी दीप्त उसे बनता है क्विप करने पर असुराणाम राट असुरों का राजा है विरोचनम तो भी पंडित होने पर भी विरोचन विरोचन स्वभाव दोष अपि विपरीतम अर्थम शरीर आत्मे यदि प्रतिपन्न उस आंख में कौन से दिखता है ये शरीर ही तो दिखता है आंख में किसके आंख में दिखता है कोई मनुष्य दिखता है तो अपने शरीर ही दिखता है तो ये यह सौक्षणी पुरुष दृश्यते चाक्षुष पुरुष जो जीव आत्मा है वही ब्रह्म है ये उपदेश किया गया वो दृश्यते अनुभव में आता है जागृत अवस्था में आत्मा तो श्रुति में कहा गया वह आत्मा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वही अमृत अवय किंतु वो समझ लिया इस शरीर ही दिखता है शरीर ही आत्मा है और इंद्र को भी भ्रम हो गया कहा चक्षु में तो प्रतिबिंब दिखता है छाया वही आत्मा वही ब्रह्म है आत्मा इति प्रतिपन्न समझ लिया विवेचन तथा इंद्रो देवराट ये देवताओं का राजा है इंद्र वो भी कम नहीं सकृद द्विस्त्रियुक्तम च प्रतिपद्यमान एक बार पहले कहा जैसे विरोचना कहा गया वो भी समझ लिया ये प्रतिबिंब ही दिखता है और कौन दिखता है प्रतिबिंब भी आत्मा है फिर थोड़ी देर में जा फिर प्रजापति ने कहा अपने जो अलंकार आदि बाल फाल काट दो अलंकार भूषण करो अथवा वस्त्र पहन करो फिर जाकर जल में देखो देखे तो विरोचना का दिखा तो शरीर दिखता है इंद्र को ज्ञान हो गया ही प्रतिमा भी दिखता है किंतु इंद्र को रास्ता में ही समझ में आ गया पहले गुरुकुल में वास करते समय ऐसे ही ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी तो ऐसे बाल फाल था साधु भूषण वेशभूषा नहीं था भूमि में शयन ऐसे ही भूमि में भोजन करना ऐसे विभिन्न नियम से रहते थे फिर कहा भी सब साफ करके अच्छा वस्त्र पहन लो अलंकार भूषण अपने पहन लो तो पहनने के बाद इंद्र को समझा हां ये प्रतिबिंब की था मैं रास्ता में सोचा पहले जैसे शरीर में था प्रतिबिंब में इसे सब अपरिष्कार दाढ़ी बाल सब था इसको काट दिया साधु भूषण पहना तो अलंकार आदि भूषण भी प्रतिबिंब दिखा इसी प्रकार शरीर में कोई हाथ पैर कट जाएगा तो प्रतिबिंब भी कट जाएगा शरीर नष्ट हो गया तो प्रतिमा नष्ट हो जाएगा इसमें किया ब्रह्म है इसमें तो सुख नहीं है फिर वापस आया ये सक्र दे एक बार फिर द्वितीय बार तृतीय बार 32 32 32 छियानवे वर्ष हो छियानवे वर्ष होने के बाद द्वितीय बार भी मेरे से ब्रह्म हो गया तृतीय में हो गया पहले जागृत अवस्था विशिष्ट आत्मा द्वितीय में स्वप्न में अवस्था को लेकर कहा तृतीय में सुषुप्ति अवस्था को लेकर कहा इनसे भिन्न दृग रूप चेतन एक है तीनों अवस्था में होने वाला उसको नहीं समझ करके क्यों नहीं समझा स्वभाव दोष क्षयम स्वभाव दोष के कारण ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पाप से न पाप कर्म बहुत होने पर ज्ञान नहीं होता है ज्ञान का साधन श्रवण भी नहीं कर पाता है प्रतिबंधक पाप ही प्रतिबंधक होकर के आते हैं वो प्रतिबंधक बाहर से पता नहीं चलता रास्ता रोकते नहीं कि खड़े होकर के छोड़ेंगे नहीं रास्ता श्रवण करने के ऐसा नहीं जिसको देवता लोग जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको श्रद्धा से जोड़ देते हैं श्रद्धा आदि कौन से श्रवण आदि करता रहता है और जिसको विघ्न करना चाहेंगे श्रद्धा में कमती कर देंगे श्रद्धा नहीं होगी फिर समझदार व्यक्ति समझता है क्या पढ़कर होगा हम जाकर साधन करेंगे छोड़ो सो पुस्तक पुस्तक फेंक दो किसको दे दो जाकर हम साधन करेंगे साधन कहाँ करेंगे जहाँ दूध ज़्यादा मिलता है घी मिलता है सम्मान मिलता है रहने की व्यवस्था वहाँ चलो यहाँ क्या है ये कोई पूछता नहीं इधर उधर चलो मैं गए छोड़ करके और श्रद्धा कमते से बाद में जब समझ आता है तो कुछ नहीं होता है हाँ खाना पीना तो हो जाता है साधन कुछ नहीं होता है जो खाने पीने अच्छा से सोच कर जाएगा साधन क्या होगा किंतु उस समय जितने कोई समझ आएगा नहीं हम चल जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा सिखाएंगे तो बिल्कुल भाग जाएंगे ये दोष पाप कर्म ज्ञान क्या ज्ञान का साधन श्रवण आदि करने नहीं देता है इसलिए श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्य जो कहा गया श्रवण के लिए बहुत को प्राप्त नहीं होता है प्राप्त नहीं होता है क्या जो पाठ चलता है बैठने के लिए कोई टिकट करना पड़ता है क्या नाम लिखा करके कुछ रुपया जमा करना पड़ता है ना फीस देना पड़ता है कोई भी तो वैसा है बहुत को प्राप्त नहीं क्यों नहीं होता है यही बहुत को प्राप्त नहीं होता है कितने लोग सुनते हैं भंडारे में कितने लोग महात्मा इकट्ठे हो जाते हैं बड़े भंडारे बुलाया तो कितने महात्मा जगह नहीं होगा बैठाने के लिए हरिद्वार से भी आ जाएंगे दूर-दूर से भी हरिद्वार से यात्री तो दूर से भी आ जाते हैं कुछ लोग ट्रेन से घूमते रहते हैं जहाँ जो भंडारे उनको पता है बहुत दूर दूर से 100 200 500 किलोमीटर दूर से भी उपस्थित हो जाते हैं इसे सब लोगों को प्राप्त नहीं होता है श्रवण करने आए और श्रद्धा भी हो श्रद्धा नहीं हो पाप कर्म हो तो पूरा नहीं होता है बीच में छोड़ देते समझे क्या है आत्मा ही ब्रह्म है यही तो समझा बार-बार रोज-रोज क्या समझना आत्मा ही ब्रह्म है अब बैठ कर चिंतन करो वो श्रवण मनन के द्वारा जो संशय निवृत्त होता है जिसके बाद निधिध्यासन होता है वो निधिध्यासन श्रवण मनन के बिना नहीं हो सकता है साधन करने के लिए जा करके बैठ करके कोई जपता है जप करेगा कोई हम ब्रह्म रटता रहेगा वो साधन अलग है बहुत निकृष्ट साधन है कोई हम ब्रह्म को रटे हम को रटे कोई सो हम मंत्र भक्तों को भी मंत्र देते सो हम शिव हम बस रटते रहो भक्तों लोग पता चलता है जैसे शिव जी का मंत्र है इसे हम का है कि मंत्र है जैसे नमः शिवाय इसे हम ये मंत्र जप करते हैं उसका अर्थ कुछ पता नहीं रटते हैं जप करते हैं ये ऐसे जप करने पर अहम अस्मि ब्रह्म का भी रटते अहम ब्रह्मास्मि बहुत लोग रटते रहते हैं अर्थ पता नहीं अब पता भी चलते मैं ब्रह्म क्या है मैं जो देह परिचन्न हूं यही ब्रह्म है देह परिचन्न मैं मानकर वो ब्रह्म है जितने रटे जितने चिंतन करो ब्रह्म व्यापक है और देह परिचन्न में और मैं ब्रह्म दोनों में एकता कैसे है एक तो है एक है अपरिचन्न अपरिचन्न है अपरिचन्न ही रटते रहे कुछ नहीं होता है वो साधन अलग है वेदांत साधन तो श्रवण मनन निधिध्यासन श्रवण है प्रधान अंगी प्रमाण का विचार होता है शास्त्र तात्पर्य निर्णय और श्रवण के पश्चात अंग है मनन निधिध्यासन श्रवण प्रधान है ये शास्त्र में निश्चय क्या श्रवण करने पर शास्त्र तात्पर्य निश्चय हो तो केवल ज्ञान होता है श्रवण मात्र से और प्रतिबंधक निवृत्ति के लिए मनन ध्यान का जरूरत पड़ता है तो जब तक पाप कर्म है तब तक श्रवण करने के लिए जिज्ञासा भी नहीं होती जिज्ञासा भी अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र में साधन चतुष्ट संपन्न होने पर वैराग्य होने पर जिज्ञासा होती है वैराग्य के बिना जो थोड़ी जानने की जिज्ञासा तो वो जिज्ञासा ऐसा नहीं वो समाप्त हो जाती है कोई भोजन मिलता है तो चलो हम भी खा लेंगे थोड़ी देर में बाद में है नहीं अभी नहीं खाएं पेट खराब होगा ऐसे जैसे भूभुक्षा खाने की इच्छा गया थोड़ी देर में नहीं खाया नहीं तो ला करके थोड़ा देखा फेंक दिया क्योंकि भूख नहीं है इसी प्रकार श्रवण करने की इच्छा नहीं है किन सब लोग सुनते तो हम भी बैठ जाएंगे एक दो दिन बैठ गया मैं क्या ये सब करते हैं क्या मिलेगा इसे एक साधन करके छोड़ दिया इसी प्रकार जो वैराग्य के बिना जिज्ञासा नहीं है थोड़े कौतूहल से आरंभ करते तो फिर थोड़ी देर छोड़ देते हैं वैराग्य होने पर जो जिज्ञासा हो जिज्ञासा जिस प्रकार बुभुक्षा भोजन करने से ही चुता निवृत्ति होती है जिज्ञासा इस प्रकार साक्षात्कार होने पर भी निवृत्त होती है तब तक वो छोड़ेगा नहीं अनेक पाप कर्म प्रतिबंधक है स्वभाव दोष राग द्वेष आदि काम क्रोध आदि ये सब निवृत्त होने पर ही स्वभाव दोषम अपेक्ष ज्ञान होता है दोष पाप निवृत्ति के बिना इंद्र को भी ऐसे दोष निवृत्त होने पर 32 32 32 इसलिए गुरुकुल में रह कर सेवा करते हैं अहंकार सबसे बड़ा दोष है प्रतिबंधक है सेवा करने से अहंकार की निवृत्ति होती है तमोगुण और रजोगुण की निवृत्ति होती है उच्च करना आवश्यक है जो सोते के नहीं हम तो पढ़ने के लिए हम सेवा क्यों करें सेवा करना है तो वहाँ करना था यहाँ क्यों आए गुरु की सेवा करते यहाँ आए थे तो यहाँ पढ़ने के लिए बस यहाँ तो कोई गुरु नहीं गुरु तो वही जहाँ से मतलब लिया जब सेवा करना पड़ेगा पैर दबाना पड़ेगा कपड़ा साफ करना है गुरु पुण्य पूजा करना है तो जो मंत्र जिन से ले उनके पास जाओ कितने लोग मंत्र गुरु के साथ भी संबंध नहीं दीक्षा गुरु के साथ संबंध नहीं और शिक्षा गुरु को भी नहीं मानेगी तो कहाँ शास्त्र ज्ञान शास्त्र से ज्ञान ज्ञान क्या लाभ होगा तो इसलिए सेवा करनी पड़ती है नम्रता के साथ सेवा के साथ अध्ययन करते हैं तो फलप्रद होता है ये स्वभाव दोष निवृत्ति के लिए सेवा उपनिषद में आया जहाँ कहीं हो तो सेवा में लगातार दीर्घ काल इंद्र वर्च और विरोचन असुर के राजा स्वर्ग के राजा इतने बड़े होकर गए तो भी 32 वर्ष इंद्र फिर नहीं समझते कहे फिर और 32 वर्ष रहो नहीं समझते फिर 32 छियानवे वर्ष पूरा हुआ उसके बाद चतुर्थ पर्याय का और पांच वर्ष चतुर्थ पर्याय प्रथम उक्तम एवं ब्रह्म प्रतिपन्नवान चतुर्थ पर्याय उपदेश हुआ ब्रह्म को समझ ही इंद्र ने किसको प्रथम उक्तम एवं पहले जो कहा गया तो वही ब्रह्म है कोई नहीं कि चतुर्थ पर्याय में कोई दूसरा ब्रह्म कहा गया पहले ब्रह्म छोटा कहा था बाद में थोड़ा और उतर बड़ा और थोड़ा बड़ा अंत में सबसे बड़ा ब्रह्म का उपदेश ऐसा नहीं ब्रह्म भिन्न नहीं है वही ब्रह्म जो उपदेश किया गया पहले पर्याय प्रथम पर्याय में उसको ही जाना टीका में यदि शब्द प्रयोगे किन कारणम यदि शब्द क्यों प्रयोग किया यदि मान्य से सुवेदित इसलिए कहा कदाचित यदि मानते हो क्योंकि दुर्विज्ञ कभी कोई जानता है कोई नहीं जानता नहीं जानते बहुत लोग तो ये सो अक्षिणी पुरुष दृश्यते अक्षिणी शरीरस्य प्रतिछाया दृश्यते इति प्रसिद्धवत उपदेशात शरीरम आत्मेति प्रतिपन्न य ऐसा अक्षिणी पुरुष दृश्य जो दिखता है यत शब्द देन से प्रसिद्ध लेना कोई अपूर्व नहीं है जो दिखता है वही ब्रह्म है प्रसिद्ध जैसे यत शब्द कहने से उसको समझ रहा दिख, दिखता कौन शरीर ही तो दिखता है शरीर शरीर से प्रतिछा दृश्यते शरीर का प्रतिमा दिखता है जो दिखता है शरीर ही प्रतिमा कोई अलग पदार्थ है ही नहीं तो शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न इंद्र विरोचना ने समझ लिया और इंद्र को समझ में आ गया कि प्रतिबिंब ही आत्मा छाया है किंतु बाद में आया तथा इंद्र स्वभाव दोषम अपेक्ष तथा इंद्र पहले क्या समझ रहा छाया है आत्मा रास्ता में समझ छाया तो व्यभिचारी है छाया में शरीर सुंदर है तो हाथ पैर है सब दिखता है और छाया शरीर में के हाथ पैर कट गया तो छाया में कट जाएगा शरीर में जैसे होता है छाया में से दिखता तो छाया कोई स्थिर पदार्थ नहीं कोई ऐसे उसमें से कोई शरीर हाथ पैर कट गया तो उसमें कट जाएगा छाया व्यभिचारी है ऐसे समझ करके सकृद दो त्रि एक बार दो बार तीन बार पहले कहा था यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते एक बारम प्रथम बार कहा चक्षु में जो पुरुष दिखता है 32 वर्ष के बाद फिर इंद्र रास्ता में से वापस आए प्रजापति ने कहा और 32 वर्ष रहो फिर 64 वर्ष पूरा हो गया उपदेश करते यह ऐसा सपने महिमानम चरति सपने में जो भोग करता है वही आत्मा वही ब्रह्म है महिमानस चरति महिमा युक्त होकर के मान पूज्य होकर के विचरण करता है हैं मही ये तो दीर्घ है ही किसको दीर्घ क्या ये में रस है क्या रस है हाँ दीर्घ चाहिए महीयमानस चरति किस में नया में पुराने में या रस है अच्छा हाँ महीयमान टिप्पणी में दिया महीयमान स्त्री आदि भी पूज्यमानस चरति पूजित होकर स्वप्न भोग अनुभव करता है जो स्वप्न दृष्टा है वही आत्मा द्वितीय बार का फिर फिर 32 वर्ष के बाद 64 हो गया फिर 32 वर्ष 96 हो गया कहते तद यत्र एतत् सुप्त समस्त संप्रसन्न स्वप्नम न विजानाति जो सो गया समस्त इंद्रिय समाप्त लीन हो गए सम्यक प्रसन्न हो गया सुषुप्ति अवस्था में स्थित हो स्वप्न न बिजानाति जागृत अवस्था का ज्ञान है स्वप्न भी नहीं देखता है सुषुप्ति अवस्था में स्थित सुषुप्ति का दृष्टा जो साक्षी रूप है तृतीय बार कहा गया वही जो दिग रूप चेतन जागृत में वही स्वप्न दृष्टा है वही सुषुप्ति का दृष्टा है त्रिरुक्तम अपि तीन बार कहा गया आत्मानम अप्रतिपद्यमान नहीं समझता हुआ इंद्र ब्रह्मचर्येण आदि दोष क्षम अपेक्षा तपरीत चतुर्थ पर्याय में समझा कैसे स्वभाव दोष क्षम अपेक्ष कैसे स्वदोष हुआ ब्रह्मचर्य न फिर 32 सदा ब्रह्मचर्य उपलक्षण है गुरुकुलवास सेवा आदि करके नम्रता के साथ गुरु के अधीन होकर रहना ब्रह्मचर्य न अधर्म आदि दोष क्षम अधर्म काम कर्म पाप दोष की अपेक्षा करके ये अहंकार बड़ा दोष होता है गुरु के अधीन रह करके रह लगातार रहे लगातार निरंतर सब लोग सोचते हैं स्वतंत्र हम हैं कि किसके अधीन क्यों हम क्यों इनके अधीन रहेंगे वो स्वतंत्र नहीं मन का अधीन मन के अधीन होकर के स्वतंत्र मानते हैं वो मन के अधीन जब मन के मानी करता है वो अहंकार मन के कारण करता है तो विपरीत मार्ग में चल जाता है भ्रांत होता है इसलिए अपने मन के ऊपर भरोसा नहीं करके आचार्य के चरण में रहना पड़ता है तो ब्रह्मचर्य के साथ रहने से नम्रता के साथ सेवा पूर्वक अधर्म अहंकार पाप से निवृत्त होने पर ही चतुर्थ परे में इंद्र ज्ञान हुआ एष संप्रसादो अस्मा सर्जा समुथाय परम जित रूप संपद्य यही संप्रसाद अवस्था में स्थित आत्मा शरीर समुथाय ये शरीर से परम जति शरीर समाप्त होता है पहले भूत भौतिक और भूत भौतिक शरीर उसमें पृथक अपने को मानता है फिर उपाधि समाप्त हो जाता है अज्ञान निवृत्त होता है परम ज्योति प्राप्त करके परम ज्योति उपसंपद्यते ज्ञान होने पर परम ज्योति के साथ एक हो जाता है प्रथम पर्यायक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्नवान प्रथम पर्याय में जो ब्रह्म कहा गया उसको ही समझा एक सब एक वर्ष के बाद भाष्य में लोके भी एकस्मात गुरु सुनवताम लोक में एक गुरु से श्रवण करने वाले जितने हैं कश्चित यथावत प्रतिपद्यते कश्चित अयथावत कश्चित विपरीतम कश्चित न प्रतिपद्यते किम वक्तव्य मत इंद्रियम तत्वम एक गुरु से श्रवण करने वाले व्याकरण न्याय आदि श्रवण करते हैं कोई यथावत समझ लेता है ठीक-ठीक समझ लेता है यथावत प्रतिपद्यते कोई पूरा कश्चित अयथावत संपूर्ण नहीं थोड़े थोड़े कहीं समझा थोड़े थोड़े नहीं समझा थोड़े थोड़े कहीं समझ आएगा बहुत समझने आया कश्चित विपरीतम विपरीत हो गया बिल्कुल कोई विरुद्ध उसका गलत समझ लिया और कच्चे न प्रतिपदे तो कोई बिल्कुल समझता नहीं कुछ कोई तो बिल्कुल गलत समझा कोई बिल्कुल समझा नहीं कुछ भी नहीं समझा अज्ञान विपरीत है भ्रांति ज्ञान अयथावृत है कुछ अंश जाना कुछ नहीं जाना कहीं संशय इस प्रकार कोई जानता है ठीक ठीक ये सामान्य व्याकरण न्याय में भी कोई समझता है कोई नहीं समझता है किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्वम आत्मतत्व तो अतीन्द्रिय उसके विषय में ज्ञान नहीं होता दुर्विज्ञ इसमें क्या कहना अत्र ही विप्रतिपन्ना सदसदवादिन तार्किका सर्वे सर्वे तार्किका सदसदवादिन विप्रतिपन्ना अस्मिन् विषय आत्मतत्व के विषय में विरुद्धम प्रतिपन्न विरुद्ध ज्ञान उनको यथार्थ ज्ञान सब द्वैतवादी है वेदांत को छोड़ करके छेद आस्तिक आस्तिक दर्शन में वेदांत दर्शन छोड़ेंगे तो कितने रहेंगे पांच दर्शन में सब द्वैतवादी है योग दर्शन भी द्वैत है मीमांसा भी द्वैत है न्याय वैशेषिक से कभी न्याय वैशेषिक बहुत तर्क करने वाले बड़े बुद्धि लगाने वाले भी आत्मा अनेक मानते हैं सबको विभु मानते हैं सब आत्मा व्यापक है आपके शरीर में सबका आत्मा है और आपका आत्मा सबके शरीर में है तार्किक लोग मानते हैं इतने है तर्क के आधार पर जो आत्मा को परिचय न मानते उनका खंडन करके विभुत्व सिद्ध कर दिया कोई लोग आत्मा को अनुपरिमाण कहते हैं कोई देह परिमाण मानते हैं उनका खंडन करके तर्क के द्वारा सिद्ध कर दिया व्यापक है इतने वेदांत में आरूढ़ होने के लिए न्यायिक मीमांसाओं का बहुत कुछ उनका प्रयास बहुत सफल है बहुत आवश्यक है उन्होंने पहले नास्तिक मत को खंडन करके मीमांसा में वेद प्रमाण सिद्ध किया कुछ लोग शब्द प्रमाण नहीं मानते कुछ लोग वेद नहीं मानते उनका खंडन करके स्वतः प्रमाण वेद सिद्ध किया मीमांसा के लोग तार्किक लोग में आत्मा के विषय में व्यापक आत्मा सिद्ध किया परिचय नहीं ना तो अनुपरिमाण ना तो देह परिमाण व्यापक आत्मा है और कर्ता भूत आत्मा को मानते हैं उसके बाद योग दर्शन सांख्य दर्शन ये आत्मा को निर्लेप कहते असंग है वेदांत के अनुसार और सांख्य मत में कर्ता कहते प्रकृति को कर्ता भोक्ता है पुरुष करते तो आत्मा में नहीं है न्याय मत में तो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो दोनों है सांख्य में कहेंगे भोक्तृत्व है कर्तृत्व नहीं है फिर वेदांत में आएगा कर्तृत्व जहां जहाँ भोक्तृत्व वहां वहाँ है यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व है तो कर्तृत्व मानो और कर्तृत्व यदि वास्तव नहीं तो भोक्तृत्व भी वास्तव नहीं है आत्मा में ऐसे करके अंत में अद्वैत ज्ञान होगा तो पांचों दर्शन तो द्वैतवादी हो गए अरे वेदांत में भी बहुत प्रकार व्याख्या बहुत अलग-अलग मत है अद्वैत शब्द आने से अद्वैत को तो रखते केवल अद्वैत है शांकर मत उसको छोड़कर बाकी जितने वेदांत मत है साथ में तो अद्वैत रखते हैं किंतु द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत क्या-क्या सो रखते रखते द्वैत को छोड़ेंगे नहीं द्वैत को रख करके अद्वैत कहें तो अद्वैत नहीं हुआ द्वैत भी रहेगा अद्वैत भी रहेगा दोनों दोनों वास्तव ये संभव नहीं वेदांत मत में द्वैत का निराकरण करते क्या पारमार्थिक नहीं है व्यावहारिक है बंध्या पुत्र सस विषाण जैसे ऐसे प्रपंच को वेदांत नहीं कहते हैं इतने समझना चाहिए ब्रह्म सत्य है सत्य और जगत असत नहीं तुच्छ नहीं तुच्छ असत ते बंध्या पुत्र ससे विचारन ये मिथ्या है अनिर्वचनीय है इसको थोड़ा समझ करके व्यावहारिक सत्यता मानते पारमार्थिक नहीं है अद्वैतवाद में जगत को भी पारमार्थिक सत्य कहेंगे क्योंकि एक पारमार्थिक अद्वितीय ब्रह्म उसको नहीं मानते हैं निर्विशेष ब्रह्म नहीं मानते हैं सविशेष ही मानते हैं सभी से से व्यावहारिक है उसको पारमार्थिक शब्द से कहते अतिरिक्त नहीं मानते तो विरुद्ध प्रतिपन्ना सद तार्किक का सर्वे तार्किक शब्द कह करे यहाँ केवल न्याय वैशेषिक को नहीं जो अपने बुद्धि तर्क के आधार पर सिद्ध करते वेदांत प्रमाण को ठीक नहीं नहीं मान नहीं मान करके सो तार्किक मीमांसक भी सांख्य को भी तार्किक शब्द से कह देते हैं सद असतवादिना कोई सत कहता है कोई असत कहता है जितना अलग-अलग कहने वाले सब विरुद्धम प्रतिपन्ना आत्मा के विषय में शुद्ध आत्मा ब्रह्म से अभिन्न उसको ठीक नहीं जान पाते हैं कोई कुछ मानते कोई कुछ मानते हैं तस्माद् विदितं ब्रह्मेति सुनिश्चित उक्तमपि विषम प्रतिपतित्वाद् यदि मन्यसि इत्यादि सासंक वचनं युक्तमेव आचार्यस्य आचार्य का जो वचन यथार्थ युक्त है आचार्य का वचन उनका वाक्य आशंका युक्त है यदि मानते हो क्योंकि विदितम ब्रह्म इति सुनिश्चित उत्तम अपि विदितम ब्रह्म ऐसे कहने पर ही भी शिष्य ने कहा ब्रह्म विदितम मया मैं ब्रह्म ज्ञान हो गया सुनिश्चित कहने पर भी यदि मन्यसे इति का वचन आचार्य से युक्तमेव आचार्य के वचन अच्छा युक्त क्योंकि विषम प्रतिपत्ति तो आता विषम प्रतिपत्ति रस्य दुर्विज्ञ है विषम प्रति दुर्बधत्वात् हैं का न्याय तस्माद् विदितम ब्रह्म चाहिए तस्माद् विदितम ब्रह्म इति सुनिश्चितो उक्तमपि तस्माद् को हल करना तस्माद् विदितम ब्रह्म इति सुनिश्चितं उक्तम ब्रह्म विदितम ऐसा सुनिश्चित कहने पर भी दुर्बोध होने से विषम प्रतिपतित्व उसका ज्ञान इतने सरल नहीं दुर्बोधे दुर्बोध होने से आत्म तत्व यदि मन्य से इस प्रकार आशंका के साथ आचार्य कहते यथार्थ है दहरम अल्पमेव आपि नूनम त्वं वेत्थ जानि से ब्रह्मण रूपम यदि मन्य से देति दहरमेव आपि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मण रूपम दहरमेव अपि नूनम स्वल्प ही जानते हो सुवेद जन जानते हो तो दहरम दहर का अल्पमेव अल्पमेव अपि नूनम तुम वित्त निश्चित थोड़ा ही तुम जानते हो जानी से वेत्त का जानी से ब्राह्मण रूपम ब्राह्मे ब्राह्मण रूपम ब्रह्म का जो स्वरूप जानते हो थोड़ा सा ही जानते हो थोड़ा जानते हैं क्या ब्रह्म का कोई बहुत रूप है टीका में प्रश्न करते हैं अर्भकाणी से अनह भाष्य में पहले किम अनेकानि ब्रह्मण रूपाणि महांति अर्भकारिणी अर्भकाणी च ये दहरमे इत्यादि शंका करते भाष्य में किम ब्रह्मण अनेकानि रूपाणि अनेक रूप ब्रह्म का है कोई महांति महत महति महांति बड़े बड़े रूप है महांति बड़े रूप है अर्भकाणी छोटे-छोटे है ब्रह्म का अनेक रूप है बड़े-बड़े रूप भी बहुत है छोटे-छोटे रूप कीड़े मकोड़े जैसे छोटे-छोटे कोई बड़े-बड़े ऐसा अनेक रूप ब्रह्म का है ये नाह में वाइति इत्यादि अनेक रूप हो तो आचार्य का कहना बनेगा कि तुम थोड़ा ही जानते हो ब्राह्मण रूपम जो ब्रह्म का रूप थोड़ा-थोड़ा जानते हो थोड़ा जानते हो बहुत बड़े-बड़े रूप है और थोड़े-थोड़े तुम जानते हो ये कहना बनेगा यदि अनेक रूप हो तो क्या अनेक रूप है क्या पूर्व पीछे ने पूछा सिद्धांत ने कहता बाढ़म हां ठीक है अनेकान ही ब्रह्म का अनेक रूप है अनेक रूप है ब्रह्म का औपाधिक नाम रूप उपाधिकृतानि ब्रह्मण रूपाणि औपाधिक रूप ब्रह्म का अनेक है उपाधि नाम रूप शब्द अर्थ नाम रूप उपाधिकृतानि ब्रह्मण रूपाणि उपाधि नाम रूप उपाधि से क्या गया ब्रह्म के रूप अनेक है स्वतः अनेक नहीं स्वरूपत ब्रह्म का अनेक रूप नहीं अद्वितीय ब्रह्म है अपरिच्छिन्न देश काल वस्तु परिच्छेद रहित तो, नित्य ब्रह्म एक अद्वितीय है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है स्वरूपत भिन्न है किंतु औपाधिक रूप कल्पित रूप अनेक है श्रुति कहती स्वतस्तु अशब्दम अस्पष्टम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच यत अशब्दम शब्द स्पर्श रूप नहीं अविनाशी रस रहित गंध रहित ऐसा अविनाति मगंधवच यत गंध नहीं नित्य ऐसा आत्म तत्व यदि आदि भी सह रूपाणि प्रतिसिद्ध्यन्ते शब्द स्पर्श आदि के सो निषेध किया उनका रूप अलग-अलग रूप नहीं शुद्ध स्वरूप एक अद्वितीय तत्व है अरूपम अशब्दम स्पर्शम रूपम अभे शब्द आदि के साथ रूप का प्रतिषेध कर दिया शंका करते टीका में अर्भकानी चेति अर्भकानी का तो अल्पानी बड़े-बड़े रूप और छोटे रूपे न सत्व रूपम अस्ति ब्रह्मणि तुक्तम तदाक्षिपति ब्रह्म का स्वरूप तो रूप है ही नहीं उपाधि से तो अनेक रूप है स्वतः अनेक रूप नहीं स्वतः रूप है ही नहीं ये जो कहा गया इसको पर आक्षेप करते रूप कैसे नहीं है ब्रह्म का कोई तो रूप मानना पड़ेगा ननु येनेव धर्मेण यद रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपम यदि ब्राह्मणोपि येन विशेषण निरूपणम तदेव तस्वरूपम स्याद अत उच्यते इस धर्म से जिसका निरूपण किया जाता है येनेव धर्मेण यद रूप्यते जिस धर्म से जिसका निरूपण किया जाता है तदेव तस्य स्वरूप उसका ही स्वरूप है उष्ण स्पर्श से निरूपणता बनी उष्ण स्पर्शवान बनी उसका स्वरूप ही उष्ण बनी जिस धर्म से जो निरूपण किया जाता है वही उसका स्वरूप है ब्रह्मणोपि येन विशेषण निरूपणम तदेव तस्वरूपम स्याद ब्रह्म का भी कोई विशेष से निरूपण तो किया जाएगा आचार्य के पास शिष्य से आकर रहता है तो आचार्य फिर ब्रह्म का उपदेश करते हैं जिस विशेष धर्म से ब्रह्म का निरूपण किया जाएगा वही उसका रूप हो जाएगा रूप कैसे नहीं उसका तो स्वरूप मानना पड़ेगा अत उच्यते तब कहते हैं तो ब्रह्म का स्वरूप और रूप कैसे नहीं रूप तो होना चाहिए तो अत उच्यते चैतन्यम पृथ्वी नाम अन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्म न भवति तथा श्रोत्र आदि नाम अंतकरण से धर्म न भवति इति ब्रह्मण रूपमिति पूर्व से कहता है तदेव तस्य रूपम सद अत उच्यते अत उच्यते कैसे ब्रह्म का रूप नहीं मैं इसे पूछता हूं शंका करने वाला कहता है कैसे ब्रह्म का रूप नहीं आक्षेप करता है चैतन्यम पृथ्वी आदि नाम अन्यतमस्य चैतन्य पृथ्वी जल तेज वायु किसका धर्म है एक एक का है या सब का अन्यतम से कोई एक का नहीं सर्वेषां वा सब का विपरिणाम हो जाएगा देहाकार बन गया उसमें चैतन्य उत्पन्न हो जाएगा ये भी नहीं है एक एक का नहीं सर्वेषां विपरिणता नामा पृथ्वी जल आदि सब विपरिण परिणत हो गए देहाकार बन गए उसमें चैतन्य उत्पन्न हो गया धर्म न भवते ऐसा नहीं होता है तो फिर इंद्रिय का धर्म हो तथा आदि नाम अंतकण से धर्म न भवती थी आदि अंतकण का धर्म नहीं चैतन्य तो फिर ब्रह्म का ही धर्म होगा चैतन्य यदि ब्राह्मण रूपम इति ब्रह्म का रूप चैतन्य है क्योंकि देहादि का रूप नहीं है टीका में केन तरी विशेषण ब्राह्मण निरूपणम इति आकांक्षायाम चैतन्य स्वरूपेण पूर्व विषय ने कहा जिस धर्म से जिसका निरूपण होता है वही तो उसका स्वरूप है तो ब्रह्म का निरूपण कैसे होता है केन तर विशेषण क्या विशेष किस विशेष धर्म से ब्रह्म का निरूपण होता है सिद्धांति ने से पूछा सिद्धांति पूछने पर पूर्व विषय कहता है चैतन्य रूपेण इत्याह चैतन्य तो पृथ्वी जल तेज वायु का किसी का धर्म नहीं पृथक पृथक नहीं सब मिलकर के भी नहीं है भूतानाम समस्तानाम व्यस्तानाम च वा भूतानाम समस्तानाम व्यस्तानाम वा देहाकार परिणतानाम चैतन्यम धर्म न भवति इति बहिर अनुपलम्भात तदर्मते रूपादिवत तत्साधकत्व भाव प्रसंगाच भूतानाम समस्तानाम मिले हुए समस्त सारे भूत का धर्म नहीं चैतन्य मिल जाने पर व्यस्ता नाम अथवा अलग अलग भूत एक एक भूत का एक एक भूत यदि चैतन्य उसका धर्म होगा तो घड़ा भी चलने लग जाएगा चैतन्य धर्म दीवार भी चलने लग जाएगा तो सब मिल करके होगा मिल करके धर्म होगा जहाँ वर्षा होने पर कहीं मिट्टी पृथ्वी में जल रह गया कहीं वर्षा आदि के आने पर मिट्टी में पानी रह जाता है रह सकता है उसमें सूर्य किरण पड़ेगा तो तेज का संबंध हो गया और हवा चलने पर वायु का संबंध है पृथ्वी जल तेज वायु सब मिल गया ना नहीं मिल गया तो उसमें चैतन्य उत्पन्न हो जाए चैतन्य उत्पन्न तो क्या होगा और पानी फिर चलने लगेगा <laughs> इधर से उधर ये नहीं होता है इसी प्रकार देहाकार परिणत होने से चैतन्य साधारण नहीं होता है क्यों नहीं होता है अनुपलम्भा अनुपलम्भात बाहर इसे नहीं दिखता है केवल पृथ्वी जल तेज वायु एक में चैतन्य अर्थात सब मिल जाने पर चैतन्य उत्पन्न होता है फिर बुलाने बोलने लग जाए चलने लग जाए बढ़ने लग जाए ऐसा नहीं होता है धर्मते रूपादिवत साधकत्व भाव आच यदि भूतों का धर्म होगा जैसे घट है का धर्म है रूपादि रूपादि घट को प्रकाश करते हैं नहीं रूप के द्वारा घट का ज्ञान हो जाता है घट का धर्म रूप रस गंध के द्वारा घट का ज्ञान हो जाएगा गंध से घट का गंध के द्वारा नहीं गंध घट को जान ले रूप भी घट को जान ले ऐसा होता है इसी प्रकार जो चैतन्य पृथ्वी आदि का धर्म होगा तो साधकत्व तो अभाव प्रसंगाच तो देह का साधक नहीं होगा चैतन्य चैतन्य होता देह का साधक वो साधक नहीं होगा साधक अंदर प्रकाशक व ज्ञापक देहादि का ज्ञान चैतन्य से होता है चेत रूप से वो चेतन ज्ञान जनक नहीं होगा यदि उसका धर्म होगा जैसे पृथ्वी का धर्म गंध रूप रस आदि है वो पृथ्वी का ज्ञापक ज्ञान जनक नहीं है प्रकाशक नहीं है इसी प्रकार यदि पृथ्वी आदि का धर्म होगा तो पृथ्वी आदि का प्रकाशक चैतन्य नहीं होगा अभाव प्रसंगाच साधकत्व प्रकाशक तथा श्रोत्रादीनाम अपि विशेषात चैतन्यम धर्म न भवति इति भौतिकत्वा जिस प्रकार भूत का पृथ्वी आदि का धर्म नहीं हुआ इसी प्रकार पृथ्वी आदि का जो कार्य है इंद्रिय इंद्रिय में कौन सा इंद्रिय भौतिक है कोई है भौतिक सारे इंद्रिय भौतिक श्रोत्रादि नाम अपि भौतिकत्व विशेषात जैसे पृथ्वी आदि में बहुत पृथ्वी आदि का कार्य में भौतिक नहीं भौतिकत्व है इस पर श्रोत्रादि में भौतिकत्व है चैतन्य धर्म नहीं होगा तो फिर भूत का भूत भौतिक जितने पदार्थ है शरीर इंद्रिय आदि सब भौतिक है सब में यदि चैतन्य धर्म नहीं होगा तो फिर किसका रहेगा भूत भौतिक को छोड़ें तो पारिशेष्यात स्वतंत्र चैतन्य ब्रह्मण रूपम इसलिए वाक्य और कौन रहा स्वतंत्र चैतन्य रहा चैतन्य से भिन्न किसी का धर्म नहीं स्वतंत्र चैतन्य ब्रह्मण ब्रह्म का ही स्वरूप होगा चैतन्य स्वरूप होगा पूर्व पक्षी कहता है तत्र श्रुति सम्मति महा तत्वाच उक्तम श्रुति में कहा गया तथा तथा श्रोत्रादिना अंतकरण से धर्म न भवति इति ब्रह्मण रूपमिति ब्रह्म रूपयत चैतन्य न चैतन्य से निरूपण होता है तथा च उक्तम विज्ञान मानदम ब्रह्म विज्ञान चिद्रूपान ब्रह्म है विज्ञान घनैव ज्ञान घने चिद्रूप ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान रूपे प्रज्ञान ब्रह्म प्रज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म इति च ब्राह्मण रूपम निर्दिष्टम श्रुतिषु श्रुतियों में ब्रह्म का रूप निर्देश किया गया चैतन्य ज्ञान रूप चैतन्य प्रकाश है टीका में भाष्य में का सत्यम एवं तथापि तद अंतकरण देहेन्द्रिय उपाधि द्वारा नैव विज्ञान आदि शब्द निर्दिश्यते तद अनुकारित्वात् देहादि बुद्धि संकोच छेद आदि न स्वतः टीका सत्यम एवं चैतन्यम पारमार्थिकम ब्रह्म रूपम श्रुति तात्पर्य सत्यम एवं चैतन्यम स्वतंत्र चैतन्य भूत भौतिक का धर्म नहीं वो चैतन्य पारमार्थिक है ज्ञान रूप है आनंद रूप ब्रह्म है पारमार्थिक ब्रह्म रूपम ब्रह्म स्वरूप है चैतन्य तो श्रुति तात्पर्य गम्यम श्रुति तात्पर्य से निश्चित होता है ब्रह्म का स्वरूप सिद्ध रूप ज्ञान है सत्यम ज्ञानम तथा भी अदुक्तम ब्राह्मण रूपम कथो नास्ति इति ब्रह्म का रूप नहीं कैसे कहा जो सिद्धांत ने कहा तद उपाधि द्वारा ने ब्रह्मण शब्द निरूपण चैतन्य स्वरूपत है किंतु जो आपने पूर्व पक्ष ने कहा था ब्राह्मण रूपम कथन आती थी उसका उत्तर सुनो तद उपाधि द्वारणेव ब्राह्मण सब ब्राह्मण शब्देन निरूपणम निर्देशनम न स्वतः ब्रह्म का जो निरूपण होता है शब्देन श्रुति के द्वारा उपाधि द्वारेणेव उपाधि के द्वारा ही ब्रह्म का निरूपण होता है उपाधि के बिना शुद्ध ब्रह्म का निरूपण शब्द में नहीं हो सकता है उपाधि द्वारे न एव उपाधि के द्वारा ही ब्रह्म का निरूपण होता है शब्द श्रुति शब्द के द्वारा निर्देशन न स्वतः स्वतः नहीं है स्वतः ब्रह्म निर्विशेष है निष्प्रपंचम प्रपंचते अध्यारोप अपवादाभ्याम आकाश आदि की उत्पत्ति अध्यारोप करके उसका निषेध करके अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म का निरूपण किया जाता है उसमें कोई शब्द का प्रयोग नहीं होगा इसलिए अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से ब्रह्म का उपदेश करने के लिए आकाश आदि की सृष्टि श्रुति में कही गई आकाश आदि की सृष्टि जो कही वो आरोप किया गया फिर कार्य कारण से बिना नहीं करके कार्य मिथ्या कारण ही सत्य ऐसे करके अंतिम सबसे कारण अंतिम शुद्ध ब्रह्म ही सत्य सब मिथ्या है इसे निरूपण किया गया उपाधि के द्वारा कार्य को देख करके कार्य के द्वारा उपाधि के द्वारा ब्रह्म कार्य निरूपण होता इस शब्द से स्वतः स्वतः नहीं सता है इत अभिप्रत्य अंतकरण आदि अभिव्यक्ति में उपलभ्य ही यद उपाधि अभिव्यक्ति निमित्तं चैतन्यम तद ब्रह्मेति निर्दिशति इत्यत अंतकरण आदि अभिव्यक्ति में उपलभ्य अभी ब्रह्म कि उपाधि कहेंगे उपाधि अभिव्यक्ति है उपाधि अभिव्यक्ति का निमित्त है चैतन्य उपाधि के द्वारा ब्रह्म का निरूपण होता है उपाधि धर्म उसमें दिखता है उपाधि धर्म उसमें दिखने से उपाधि को अनुकरण करता है जल का कंपन होने से चंद्र प्रतिबिंब आकाश का कंपन दिखता है जो प्रतिबिंब में कंपन दिखता है वो जल का ही कंपन है इसी प्रकार उपाधि के धर्म को अनुकरण करता है उपहित चेतन का प्रतिम्ब होता है अंतकण में चिदावास और अंतकण का धर्म चिदावास में दिखता है तो इस अंतकण उसके धर्म के द्वारा उपलक्षित होता है उसके द्वारा निरूपण किया जाता है ब्रह्म में कोई रूप वास्तव नहीं है कल्पित रूप ही उसका निरूपण होता है कल्पित रूप से जिसे निरूपण होता है जो सर्प है वही रज्जु है रज्जु रूप से उसको बताते हैं किसको सर्प को सर्प मतलब कल्पित सर्पत्वेन जो ज्ञात हुआ था वही रज्जु है सर्प वास्तव नहीं है तो सर्प रूप से कल्पना हुई थी कल्पित धर्म के द्वारा ही उसको उद्देश्य करके रज्जु है कहा जाता है इसी प्रकार ब्रह्म को उपदेश करने के लिए जितने धर्म से उपदेश करेंगे सो कल्पित धर्म से उपदेश होगा शब्द का प्रयोग जहाँ-जहाँ होता है शब्द प्रवृत्ति का विषय ज्ञान का विषय इंद्र का विषय जितने पदार्थ सब कल्पित है और उनके द्वारा ही ब्रह्म का निरूपण होगा शुद्ध ब्रह्म का इसलिए औपाधि के रूप से ही निरूपण होता है स्वतः निरूपण नहीं होता है उपाधि कैसे आगे आएंगे आगे है कैसे उपाधि होता है उपाधि उपहित होता है अंतकण आदि किस प्रकार उपाधि ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि